नाम थे भगवान विष्णु गौराणु थे गर्व पर बैठे हुए थे भगवान शंकर के हाथ में त्रिशूल था तो ब्रह्मा जी के हाथ में कमंडल तो भगवान विष्णु के हाथ में सुभाषण और तो तीनों देवता उनके सामने आकर प्रकट हुए उन तीनों देवताओं को देखा तो उनके तेज से उन उधर देख नहीं पाए हस्ते ने नेत्र मिल गए दोनों हाथों से आंख बंद कर लिए अब देवताओं का इतना तेज कैसे देखते हाथ जोड़ करके फिर चले हे देवा विस्मान संतोष अरे वो देवताओं मैं तुमको प्रणाम करता हूँ मैंने तो एक परमात्मा की उपासना की है तुम तीन कहां से आ गए पुत्रोत्पत्ति की इच्छा से पुत्र प्राप्ति की इच्छा से एक स्थिति करता अब आप जीवन प्रवाह करना अच्छा लगा तुम तीन क्यों आए अब प्री के इन भोले वाले वचनों को सुन करके देवता हंस करके बोले ओ अपने ओ महात्मा जिस एक तत्व को पदार्थ में दान कर रहे थे तो वो हम तीनों वही एक ही तत्व हम तीन हैं तीन ये तीन जो है वो एक ही तत्व जो है तीन रूप में है वो हम तीनों एक ही हैं जिस एक तत्व का हम ध्यान कर रहे थे अब हमारा दर्शन व्यक्त नहीं जा सकता वैसे ये जी के भगवान की दशा है भगवान चंद्र के तीन को तुम प्रसूति जी के पुत्र जो दक्ष हैं उसमें प्रसूति नाम प्रसूति नाम सोलह कन्या उनके सोलह कन्या तेरह कन्या तो धर्म को दे एक अग्नि के लिए भगवान शंकर के लिए धर्म की पत्नियों के नाम सुन श्रद्धा मैत्री दया शांति पुष्टि ये धर्म की पत्नियां जहां धर्म रहेगा तहां ये सब रहेंगे जहां धर्म होगा ना श्रद्धा रहेगी कि नहीं दया भी रहेगी शांति भी रहेगी पुष्टि भी रहेगी पुष्टि भी रहेगी क्रिया भी रहेगी उन्नति भी रहेगी वृद्धि मेधा प्रतीक्षा ऋण मूर्ति ये सब ये धर्म की पत्नी है अच्छा भगवान शंकर जी को पत्नी सती नहीं थी पुत्र नहीं थे उनको पुत्र नहीं क्यों उन्होंने तो विवाह स्थान में अपना शरीर त्याग दिया था अपने पिता के घर जाकर क्या क्यों त्याग दिया भगवान शंकर से उनके पिता का देश हो गया उन्होंने अनादर किया सती जी सती जी ने अपमानित होकर शहीद किया विदुर जी बोले महाराज भगवान शंकर से दक्ष का क्यों देश हो गया क्या था दक्ष का तो चरा हाँ, दक्ष चराचर गुरु निर्दम शिवम कृषि को देश द्वेष चराचर प्राणियों के गुरु भगवान शंकर से दक्ष क्यों देश करते थे इसकी कथा को तो सुनाओ तो इसमें कारण क्या है मैत्र मुरेट एक बार प्रजापतियों के यज्ञ में संपूर्ण देवता ऋषि आदि पहुंचे बड़ी भारी सभा लगी हुई थी उस तो समय भगवान शंकर भी विराजमान थे वहां ब्रह्मा जी भी बैठे थे पीछे दक्ष वहां आए और दक्ष को आया और देख करके सब देवता आगे उठ करके खड़े हो ब्रह्मा जी नहीं उठे भगवान शंकर भी नहीं उठे तथो तो अनुचितम शिवम दृष्टा अब ब्रह्मा जी तो उनके पिता ही हैं तो वो नहीं उठे तो उनके ऊपर तो कोई प्रयोग नहीं हुआ उनको पर देखा कि भगवान शंकर जब नहीं उठे तो उनको न देख एक बार देख करके उनकी आंखें लाल लाल हे सदा सदा देखो मैं कोई जो बात कहूंगा वो कोई नासमझी से नहीं कहूंगा देश से नासमझी से मेरे वचनों को सुनो कोई भी व्यक्ति जो बात कहता है वो अपनी समझ से ठीक ही कहता है वो कहते हैं कभी जो है कि जो मैं कुछ कह रहा हूं कोई ना समझी से नहीं कह रहा समझ बूझ करके हम कह रहे हैं एक तो ये देखो जो अभिमानी है उसकी क्या दशा होती है कक्ष जब गए तो वो हजारों की संख्या में देवता और ऋषि उठ करके खड़े हुए उनका सम्मान किया तो इतने हजारों व्यक्तियों के सम्मान से वो हर्षित तो नहीं हो रहे हैं प्रसन्न तो नहीं हो रहे हैं और एक व्यक्ति नहीं उठा उससे कैसी विलक्षण बात अरे भाई एक एक व्यक्ति न भी उठे न सम्मान करा तो हजारों व्यक्तियों ने तुम्हारा स्वागत किया तो तुम्हें तो आनंद में डूब जाना चाहिए कि मेरा इतने व्यक्ति स्वागत कर रहे हैं पर नहीं उस पर ध्यान न देकर के एक व्यक्ति को नहीं उन्होंने अभ्यस्थान दिया तो उससे भी दुखी हो गई और देखो क्या क्या बात कर रहे कहते हैं कि इसमें शिष्यता प्राप्त कि ये जो शिव है एक तरह से मेरे शिष्य हैं क्यों तो मेरी कल्याण को बुराई है निर्दय तो अभ्युत्थान के योग जो तो मैं हूं प्राणी से भी मेरा सत्कार नहीं किया ये भी नहीं कहा था महाराज आप हम्म। ठीक है स्वास्थ्य तो ठीक है आप भले पधारे प्राणी से भी मेरा सत्कार नहीं किया ब्रह्मा जी के कहने में आकर के मैंने अपनी कन्या इनको देखी ये शमशान में रहते हैं भूत प्रेतों के साथ रहते हैं ब्रह्मा प्रेम में मेरा साथ भी करता मैंने अपनी सीधी शादी कन्या ब्रह्मा जी के वचन बाप को मैं आकर के वचन में आकर के महाराज इनके कहने से मैंने अपनी कन्या इनको लिया इस प्रकार पक्ष जो है भगवान की निंदा कर लिया और ये कहा अब देवताओं के साथ में इनको भाग न मिले यज्ञ में यज्ञ देवी सब भाग में लगता यथो देव गणात्मक सब लोग कह रहे थे महाराज आप क्या बोल रहे हो क्या कह रहे हो सब निश्चित माना उसका कपड़ा ठीक कपड़ा पकड़ के खींच रहे थे क्या बोल रहे हो महाराज क्या कह रहे हो बाबू का क्रोध में भर रहे थे ऐसा कह करके भगवान शंकर को साथ देकर के ग्रहण स्वग्रहण ले दक्षिण अपने घर को चले गए इसके अनंतर सर चुप करके खड़े हो और उन्होंने कहा अरे अयम दक्षु गृह से सकता ये जो दक्ष है ये घर गृहस्थ में आ सकते हैं स्त्री लंपट है कर्म कांड में लगा रहता है आत्मज्ञान इसको है नहीं पशु के समान है इसलिए ये वस्त्र मुख हुए ये बकरे का मुख इसका हो गया ये अविद्या को विद्या माने हुए और जो इस लक्ष्य का अनुवर्तन करने वाले ब्राह्मण है वो भी विद्या और तप से वृक्ष से युक्त होने पर भी सर्वभक्षी हो याचक होकर के भिकारी होकर के संसार में विचरण करें ये ब्राह्मणों को जब प्रार्थना हुआ तो प्रभु जी थे और प्रभु जी जहाँ कहने के लिए शिव जी के भक्त हैं वो जटा संधारण करने वाले हाँ, वो पाखंडी हो आपस में जब ये शाखा कुछ होने लगी तो भगवान शंकर भी वहां से उठ करके चले बस वहीं से द्वेष का कारण बन गया दानाता और ससुर में उसी समय से द्वेष हो गए तो इसके अनंतर ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रयाग का अधिपति बना दिया तो उसको गर्व हो गया अहंकार हो गया उन्होंने बृहस्पत नाम का यज्ञ दिया भागदेह नाम का यज्ञ दिया भागदेह ने का शेष प्रदान तिरस्कृत किया उसमें भगवान शंकर को भाग नहीं दिया फिर बृहस्पत नाम का यज्ञ प्रारंभ किया दक्षिण यहां तो पास ही है ना गंपर हाँ, दक्षेश्वर जहां दक्षेश्वर भगवान का मंदिर है बड़ा भारी यज्ञ उस यज्ञ में संपूर्ण देवता लोग आ रहे थे ऋषि लोग आ रहे थे विमाने देवस्त्रिया अलंकृत व्यंजन दृष्ट विमान में बैठ बैठ करके देखता रहा स्त्रियां आ रही थी लक्ष्य महाराज के यज्ञ सती वहां बैठी थी कैलाश पर्वत पर बैठी हिमालय में उन्होंने देखा कि आज विमान सब सर कर गए विमान किधर जा रहे हैं कहाँ जा रहे हैं उनकी बातचीतों से मालूम हुआ कि हमारे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है उसमें भी सब लोग जा रहे तो सती जी के मन में आई कि हम भी चले अपने पिता के यहाँ तो हाथ जोड़ करके भगवान के सामने खड़ी हो गई हे भगवान सांगतम ते ससुर से गृह यज्ञ महोत्सव आपके ससुर के हर बार दान सती जी ने यह नहीं कहा हमारे पिता के यहां ये बता नहीं आपके जो ससुर आपके ससुर के यहाँ यज्ञ उनका संबंध बताते हैं ये नहीं है मेरा संबंध है आपका भी तो संबंध है तब तो देवा लगन जी देखो नारा देवता लोग जा रहे हैं ना और अपनी अपनी पत्नियों को साथ लेकर के तो मेरी बहन भी वहां आई होंगी तो मैं अपनी बहनों से भी मिली बस बस मैं भी आपके साथ वहां चलना चाहूंगी वहां जाऊंगी तो मेरी माता जो है हमको अलंकार देंगी वस्त्र देंगी मैं अपनी माता से तो भेद स्वीकार करूंगी अपनी बहनों से मिली के मिले हुए मुझे बहुत दिन हो गए ऋषियों के द्वारा भी यज्ञ हो रहा है उस यज्ञ को एक का कविता मैं गठन करूंगी यज्ञ आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है परंतु मैं तो स्त्री हूं मैं तो आपको स्वरूप नहीं जानती अपनी जन्मभूमि में जाने के लिए मेरी बहुत इस समय देखो जिन स्त्रियों का कोई संबंध नहीं है वो भी जब वहां जा रही है तो वो तो मेरे पिता हैं इसलिए मेरी वहां जाने की बहुत इच्छा है यादान दिलाने की लोग कम देखो ये आकाश व्याप्त हो रहा है विमानों से कितने विमान जा रहे हैं वहां हमारे पिता का जाएंगे तो अपने पिता के यहाँ इतना बड़ा राज उत्सव हो ऐसी कौन कन्या होगी जिसके मन में आ रहे वहां जाने की तो कहते हैं अच्छा तुम्हारे पास कोई निमंत्रण पत्र आया है बुलाया तुम्हारे पिता ने तुमको तो।, तो फिर पिता के यहाँ पति के यहाँ गुरु के यहाँ बिना बुलाए चले जाना चाहिए अगर किसी भूल से नहीं आया पत्र नहीं देगा तो इसमें क्या बात चले जाते इसलिए महाराज ये मेरी इच्छा आप पूरी करें मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ तो भगवान शंकर ने जब उनके इन वचनों को सुना बड़ी इच्छा देखी कि बहुत इनकी इच्छा हो रही है तब भगवान शंकर जी बोले देखो जाना तो चाहिए चले जाना चाहिए परंतु वो लोग अहंकारी न हो अगर अपने में दोष दृष्टि न रखते हों तब आज तक भगवान शंकर ने सती जी से ये बात नहीं बताई कि तुम्हारे पिता से हमारा ऐसा देश हो गया क्या मतलब कहने से बात नहीं बताई मानव गृहस्थी को कितना गंभीर होना चाहिए आज तो दुनिया कोई बात होकर से लिया गया उन्होंने भगवान शंकर ने अभी तक वो बात कही नहीं सकी अब जब बिल्कुल ही बात आ गई कहने के लिए लेकर का अर्थ रहा वैसे तुम्हारे पिताजी से हमारा ऐसे ऐसे बात की बात हो चुका इसलिए तुम्हारा पिता हमसे पेश करता है इसलिए निमंत्रण तक नहीं आया इसलिए तुमको नहीं बुलाया तुम्हारा तुम वहां जाओगे तो तुम्हारा कल्याण नहीं है तुम दक्ष कन्याओं में सबसे मान्य हो और जब तुम्हारा पिता तुम्हारा सम्मान नहीं करेगा तो तुमको संताप होगा दुख होगा सखी जी बोली कि महाराज आपने ये ये क्या किया आप जैसे और लोग उठे थे आप भी उठ करके प्रणाम कर देंगे ये क्या झगड़ा पा भगवान शंकर बोले कि बात तो ठीक है पर जब लोग जैसे साधारण लोग जैसे नमस्कार प्रणाम कर किया करते हैं विवेकियों का नमस्कार प्रणाम दूसरे ढंग का होता है प्रत्युत गमक श्रैणाभिवादन विधीयते सा मध्य में प्राग्ञ परस्मयी पुरुषा चेतसा स्थापयामी बनते जमाने फिर ये देखो जो व्यक्ति परस्पर जो ये अभिवादन आदि करते हैं कोई व्यक्ति आया उसके खड़े हो गए प्रत्युत बनो नम्रता दिखाना अभिवादन करना अगवानी करना ये वो लोग परस्पर करते हैं पर ये प्राग्ञ परस में पुरुषा जो गरीब लोग हैं वो क्या करते हैं वो जो परमात्मा अंतर्यामी सबके हृदय में विराजमान है उनको मन से उस परमात्मा को प्रणाम करते रहते देहा मानी के लिए प्रणाम नहीं करते प्राज्ञ ही पुरुषा या चेतसा जब मन से हम प्रणाम कर रहे हैं तो शरीर को उठने की क्या आवश्यकता है इसलिए सर्वत्र परमात्मा जो विराजमान है उनको मन से हम प्रणाम करते रहते हैं प्राज्ञ काय ज्ञाता अयोगात अंतर्यान अंतर्यान दृष्टिया वासुदेव आदि वहां शरीर की व्यापार की आवश्यकता नहीं होती वो सर्वांतर्यामी जो परमात्मा है सबके हृदय में विराजमान है हम तो उनको प्रणाम करते रहते हैं जो बिहार मानी है उसके लिए हम प्रणाम नहीं करते अगर तुम हमारे बचनों का अतिक्रमण करके जाओगे तो इसमें तुम्हारा कल्याण नहीं होगा ऐसा कहकर के भगवान शंकर चुप हो हाँ। और भगवान शंकर ने देख लिया तो वह प्रपत्नी अंगनाश में जाते हैं भगवान शंकर तो मैंने देख लिया तो अब इनका शरीर का अंत होने वाला है अब इनका जीवन समाप्त है तो वह तो जब हम उनको यहां से न जाने दें तो यही प्राण छोड़ देंगे और हमें जाएंगे तो वहां भी ये दुखी होकर के प्राण बचा करेंगे दोनों तरह से अब इनका अंत ही है शरीर का अंत रहा है भगवान शंकर ने सोचे तो फिर हम यहां इनको क्यों होते अपने आप का फैसले हम नहीं जाने देंगे तो यही प्राण छोड़ देंगे तो लोग कहेंगे लोग पति जी को अपने पिता के घर नहीं जाने दिया ऐसे हटी नहीं शंकर जी जो तो बेचारी प्राण छोड़ तो उन्होंने फिर कुछ नहीं मौन हो बाबा पति जी को तो बड़ी इच्छा हो रही थी अपनी माँ से मिलने के लिए बहन से मिलने के लिए पर कभी तो घर भीतर चली जाए कभी बाहर आना तो भगवान शंकर आज्ञा नहीं देते तो नहीं जाना चाहिए या भीतर बाहर बैठ जाए फिर कोई बोली कहीं तो बाहर जय नहीं कहीं भीतर जाए कहीं बाहर जाए जिधा हुआ ऐसे दुर्गाना पड़ गई कभी भीतर कभी बाहर कभी भीतर कभी बाहर शंकर की प्रक्रिया से देखने लगी माना ने भस्म कर रही और अंत में प्रवीण की बुद्धि ने निर्णय दिया चाहे कहें ना कहें हमें तो चल नहीं है बस तब वह सभी एवं दिन लंबी लंबी सांस लेकर के निश्चय करके और तम बिहार और वह जाओ मत जाओ बैठे रहो यहाँ पीछे यार चलना तम बिहार पितृ ग्रहण जगानो किया कि स्त्री जिनको हमारा शासन है ये कुछ करना स्वतंत्र है वो बाहर नहीं किसी को तदा एताम शीघ्र बच्चन तुम सती शिवान चला जब अकेली पैदल जब सती जाने लगी भगवान शंकर के गण चर से दशम को लेकर के पहुंचे मन माना कि भगवान शंकर के गण अब देवी जी चल रही है तो आप पैदल क्यों चलती है हमारी पैदल तो सब पर बैठिए आप भगवान के जो पार्षद हैं भगवान शंकर के उनके साथ बोलिए और सब कोई सामान उन्होंने नहीं दिया अपने खेल में की पीड़ा सामान उनकी जो सार का नैना आदि जो थी वाली हूं उसे भी छोड़ दिया था तो भगवान शंकर के गण सार का कंद को दर्पण उनकी सब चीजें ले लेकर के उन सती के साथ चले उनका श्वेत छत्र विषम आयोग के शोभता संतु नहीं है बस सती जी जब पहुंची जहां यज्ञ हो रहा था दृढ़ घोष नाटकाम यज्ञ स्थान काम वेद पाठ जहां हो रहा था तो उस यज्ञ स्थान में पहले पहुंची हो सकती तब प्रावधान जब सती जी को आते हुए देखा तब दक्ष के भय से किसी ने उनका स्वागत नहीं किया बस केवल उनकी बहन उनकी माता उनके प्रेम से मिली साधारण काम पूजा उनका नहीं दिखा और सती जी सीधी यज्ञ में घुस गई जहां यज्ञ हो रहा और वहां जाकर के देखा कि सब देवताओं के भाग वहां रखे हुए हैं तन यज्ञ अर्ध भागम हमारे पास भगवान शंकर को यहाँ आवे नहीं है तब तो उनको क्रोध आया और अपने पिता की निंदा करते रहे भगवान शंकर के गण जो थे यज्ञ को नष्ट करने के लिए जब दौड़े तो सती जी ने उनको रोक दिया और सर्वेशान संस्थान जवाब और सती जी बोले अपने पिता से कहने लगी कि हे पिता जिन भगवान शंकर का संसार में न तो कोई प्रिय है न प्रिय है उन भगवान शंकर से आपके बिना कौन देश करें आगे से लोग यहाँ दूसरे के दोषों को ही देखते हैं गुणों को नहीं देखते एक दुष्टों को यह सवाल होता है कि महापुरुषों की निंदा किया कर एक राष्ट्र में जिन भगवान शंकर का तो अक्षर का नाम यक्षरम नाम गिरे वितम नाम सकृत प्रसंगा प्रभना संकित पवित्र कीर्तिम कमलम विशासन भगवान अभूत शिवम शिवे तरह यक्षरम नाम भगवान शंकर का वो अक्षर का नाम शिव शिव शिव अगर किसी व्यक्ति की जीवा में निकल जाए प्रसन्न वक्त तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं उन पवित्र की कि भगवान शंकर से तुम देश करते हो तुम स्वयं अशुभ हो ये पार्वती ये पार्वतम माता मनोनिर्भर मनो मनोनिर्भर कम निवेशितम ब्रह्म सा भगवान के चरणों पर जिनके चरणों में जिनका मन बुद्धि भ्रमण हमेशा लगा रहता है ये ब्रह्मा के देवता जिनकी धारण की हुई भस्मादि को है हाँ, धारण करते हैं कि भगवान शंकर क्रीड़ा करते हैं अब उनके शरीर से भस्मा आगे नीचे गिर जाती है हाँ, उनको आदर पूर्वक अपनी मस्तक पर धारण करते हैं उन भगवान शंकर से तुम देश करते हैं एक कुछ दिन से तो संबंध आप लग जाओ भी कहती हैं कि जब भगवान हमसे ये बोलते हैं तो वो दाक्षाएं सती नहीं कहते हमसे कहते हैं दाक्षाएं दक्ष होते जब दाक्षाएं हमसे कह करके बोलते हैं तब हमको जाते हैं आपके संबंध इसका वाचक शब्द बोलते हैं तस्मात निश्चित हम देहम कक्षा इसलिए आप निश्चित ही जो आपसे उत्पन्न हुआ ये शरीर है इसको मैं त्याग दूंगी ऐसा कह करके सती जी जो है मौन हो गई और मौन होकर के उत्तर को लेकर के बैठ गई पहले उन्होंने प्राण पान नारी चक्र से नहीं कृपा प्राण और पान दोनों को नारी चक्र में आई और उनको स्नान कर लिया और उदान गाय में उठा के उदान वायु को उठा करके हृदय में आई और उस वायु को फिर दोनों भूमि के बीच में डाली और इस तरह से अपने शरीर को जब जब तुम इच्छा थी जब उन्होंने अपने शरीर के छोड़ने की इच्छा की अग्नि और वायु की धारणा जबकि उस समय इन बात सही जो है समाधि से उत्पन्न हुई अग्नि से ढक ढक करके जलने लगा भगवान चंद्र का ध्यान करते हुए और योग से उत्पन्न हुई अग्नि के द्वारा अपने शरीर को वहां रखा लगातार होने अरे सती को किसने कुछ किया अरे ये देश ने इसकी बड़ी बड़ी इसकी दृष्टि की हो गई लक्ष्य इसके अनंतर भगवान शंकर के दूध जब यज्ञ को नष्ट करने को उत्तर करे हुए तो प्रभु जी ने यज्ञ मंत्र के द्वारा एक आरती जाए अपहतम वृक्ष ऐसा तो रेणु नाम के हजारों का प्रकट हुए और उन्होंने जलती ही लकड़ी हाथ में लेकर के भगवान शंकर के दूतों को अहंसरों को मार मार करके हुआ अब वक्त है वहां सब बड़ी धूल उड़ती चली आ रही लोगों ने देखा कि समय धूल कैसे उड़ती चली आ रही है क्या आप है समय पत्नियों के लौटने का समय पहले कुछ लोग कुछ स्त्रियां कहने लगी अरे ये सती जी का जो अपमान हुआ है उसका फल मिलने वाला है और कुछ इतने ही देर में वीरभद्र में पहुंच गए जाकर के इसीलिए कहा तो उसको वहां जो बांस पड़े हुए देखते हैं गलियां बनी हुई थी या विशाला में सब था पत्नी शाला को नष्ट कर दिया यज्ञ के पात्र तोड़ दिए अग्नियों को बुझा दिया और भगवान शंकर के गणी जो ठहरे कोई कोई तो खड़े होकर के कुंडों में मुक्त करने लगे विशाल कर तो। मेघनाएं तोड़ दी ये जो ऋषि मुझे वहां यज्ञ में समेत थे उनको पकड़ लिया ऐसे मरमान ने भगू को पकड़ लिया वीरभद्र ने कक्ष को संदेश ने पुष्प को नंदी ने भक्त को वीरभद्र जो है आरंभ हाँ, कर रहे थे भगू उनके जो है इस मस्तु और कार्य को उनको सबको खा घर को बिजली में डाल करके नहीं चुका दिए पूछा भी करोगे और तलवार से वीरभद्र दक्षता से काटने लगे तो उसका सिर नहीं कटे मन कौन सा रंजित बता नहीं कटे तब तो उन्होंने तो उसकी छाती पर सर रख करके और सिर पकड़ के मरोड़ करके तोड़ दिया और हरी कुंड में जय जय पाठ वीरभद्र दक्षिणाकांड में गुरु हवन करके और कैलाश पर्वत पर आप तो हमारा जो आपकी आज्ञा थी वो उसको हमने पूरा किया अब इधर देवता लोग जो हैं अब ब्रह्मा जी के पास गए किसी का हाथ टूटा किसी का सिर टूटा दुखी होकर के ब्रह्मा जी की शरण में गए ब्रह्मा जी बोले क्या हाल है भाई तुम्हारी क्या दशा है क्यों आए हो ये ये, ये क्या दशा तुम्हारी तो महाराज दक्ष महाराज के यज्ञ में हम लोग गए थे वहां वीरभद्र के द्वारा हमारी ये दशा हुई ब्रह्मा जी बोले अरे हम नहीं गए भगवान विष्णु नहीं गए तुम लड्डू खाने पहले पहुंच गए जहां भगवान शंकर का भाव नहीं निकला वहां तुम गए क्यों यही तो दशा होगी ब्रह्मा जी ने कहा देवताओं से भी चलो भगवान शंकर से क्षमा मांगो चलते तो <clears throat> ब्रह्मा जी सब देवताओं को साथ में लेकर के और कैलाश पर्वत पर पहुंचे और वहां जाकर के वो वन जहां भगवान शंकर बैठे थे एक विशाल वट वृक्ष के नीचे वो बटका वृक्ष जो था कितना था तस्य योजन शतमुच्छाया सौ योजन ऊंचा वृक्ष था और पिछहत्तर पिछहत्तर योजन उसकी चारों ओर उसका फैलाव था वट वृक्ष तो बहुत बड़े बड़े होते हैं कलकत्ते में देखा होगा जो लोग जाते बहुत बड़े तो भगवान शंकर जिस वट वृक्ष के नीचे बैठे थे वो सौ योजन ऊंचा था और पचहत्तर पचहत्तर योजन उसके चारों ओर उसकी चौड़ाई थी तत्रासीनम अंतक तुल्यम शिवम दत्त वहां कुशा के आसन पर बैठे हुए भगवान शंकर को देखा वो क्या कर रहे थे सनकादिक महर्षि उनके पास बैठे थे कुबेर उनके पास बैठे थे कुबेर जो पास से मानम भस्मदंड जिन धर्म भस्म धारण किए हुए थे चंद्रमा मस्तक पर विराजमान थे दर्भासने स्थितम कुशासन पर बैठे थे और नारद जी उपनिषद पढ़ रहे थे नारदाय ब्रह्म ज्ञानम प्रदेशंतम नारद जी के, के लिए ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कर रहे थे वीरासने तर्क मुद्रा आसीनम वीरासन पर बैठे थे भगवान शंकर तक तर्क मुद्रा को ले बैठे इस प्रकार भगवान शंकर को देख करके सबने प्रणाम किया ब्रह्मा जी कहने लगे हे आम तो आम विश्वेशम जाने महाराज हम तो आपको साक्षात परमात्मा ही समझते हैं ये मंगलमय शुभ कर्म करने वालों को मोक्ष आप ही तो देते हैं और अशुभ कर्म करने वालों को नरक में आप ही भेजते हैं अब हम ये चाहते हैं आपके द्वारा जो यज्ञ का यज्ञ नष्ट हुआ है दक्षता अब उसका उद्धार होना चाहिए भगवान शंकर बोले हे ब्राह्मण जो माया से अभिभूत हैं जो अज्ञानी प्राणी हैं उनके अपराध की ओर हम दृष्टि नहीं डाल पर तो भी हमने दक्ष को ये दंड दिया अस्तु अब उस दक्ष के लिए वो किसी बकरे का सिर लेकर के लगा दिया जाए तो जीवित हो जाए नर जो है वो मित्र के चक्षु से देखे दूसरा जो है वो पृष्ठ मुख हो अथवा यजमान के दांतों से यजमान दंतैल भक्ष देवता यथा पूर्वम भवन भ्रगु के जो है वो बकरे की डाड़ी मुंह उनको लगा दी भगवान शंकर ने कहा सब कहने लगे साधु साधु अब तो ब्रह्मादिक सब देवता लोग भगवान शंकर को लेकर के पहुंच गए वहीं जहां वो दक्ष का यज्ञ जहां पुरुष हुआ था भगवान शंकर वो वही किया एक बकरे का सिर लेकर के दक्ष को लगाया गया भगवान शंकर ने अपनी दृष्टि से दया दृष्टि से देखा तो दक्ष ऐसे उठ करके बैठ गया मानो कोई सो करके जैसे कोई पुरुष उठ बैठा तो उसका अंतकरण शुद्ध हो गया था उसने फिर भगवान शंकर को की स्तुति की प्रेम से विवरण हो गया निष्कपटे शिवम हो ये भगवान तो या मैं दंडो न करता आपने ये हमको दंड नहीं दिया ये तो मेरे ऊपर आपने अनुग्रह किया मैंने जो मैंने जो सभा में आपको दुर्वचन कहे थे उनके कारण से मुझे तो नरक में जाना पड़ता ना तो आपने दंड देकर के नरक में जाने से तो हमको बचा लिया या आपने बड़ी कृपा इस प्रकार अपने अपराध की क्षमा मांगी और वीरभद्र के संसर्ग से जो दूषित हो गया था ना तो यज्ञ को पूर्ण करने के लिए वैष्णवम त्रिकपालम पुरुडाशम निर्वपन भगवान विष्णु के लिए पुरोदास बनाया गया उसका वपन किया निर्वपन किया उस चरुता के भवन किया और भगवान विष्णु का ध्यान किया यजमान ने भगवान विष्णु का जब ध्यान किया तो भगवान विष्णु भी वहां प्रकट हो गए और उन भगवान विष्णु को वहां देख करके क्रम से सब लोग उनकी स्तुति करते दक्ष ने उनकी स्तुति की ऋतुजों ने भगवान विष्णु की स्तुति की हे हरे बहन कर्माणी कर्मणि दुराग्रह दिया हम तो कर्म में आ सकते हैं हम आपके स्वरूप को क्या जानते सदस्यों ने भगवान की स्तुति की सदस्या ऊंचू सदस्य क्या किस प्रकार से भगवान की स्तुति करते हैं उत्पत्ति ध्वन्य शरणे दुर्गे पुरुक्लेशदुर्गे अन्तको द्रव्यानुष्टे विषयमृगतृष्णात्मदेहोरुभारः द्वन्द्वस्वभ्रे खलमृगभये शोकदावयोग्यसार्थः पादौकस्ते शरणगतदा याति कामोपसृष्टः सदस्य लोग भगवान की स्तुति कर रहे हैं कि महाराज ये संसार मार्ग कैसा है ध्वनि जन्म मरणादि लक्षण संसार मार्गे